अनोशो टॉक नए भारत का जन्म नंबर फाइव गए एक रेगिस्तानी सराय ने उस काफिले को शरण में ली बड़ा था काफिला बहुत सौदागर थे सौ ऊंटों पर लदा हुआ सामान था बच गए थे रात थक गए थे शीघ्र उन्होंने कोठियां ऊंटों को बांधा विश्राम करने की तैयारी करने लगे तभी पता चला कि एक ऊंट की कोठी और रस्सी कहीं रास्ते में गिर गई निन्यानवे ऊंट बंध गए एक ऊंट बंधा रह गया ऊंट को अन्न बंधा छोड़ना खतरनाक था रात कहीं भटक सकता था उन्होंने सराय के बूढ़े मालिक को जाकर काफिले के सरदार ने कहा अगर एक खोटी और रस्सी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो हमारा एक ऊंट बंधा रह गया उस सराय के बूढ़े मालिक ने कहा खोटी और रस्सी की क्या जरूरत है तुम तो खोटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो वो बहुत लोग हैरान हुए उन्होंने कहा खूटी हमारे पास होती तो हम खुद ही गाड़ देते कौन सी खूटी गाड़ दे उस बूढ़े ने कहा झूठी खूटी गाड़ दो और झूठी रस्सी बांध दो ये लोग कहने लगे आप भी पागलखंड की बातें कर रहे हैं झूठी खूटी से कहीं ऊंट बांधे गए झूठी रस्सी से कहीं ऊंट बंधेंगे उस बूढ़े आदमी ने कहा मैंने आदमी और तक को झूठी खूटियों से बंधा देखा है ऊंट का क्या हिसाब है तुमको बांध दो तीनों हैरान हुए लेकिन सोचा कि देख ले कोई और रास्ता भी नहीं था अंधेरे में उन्होंने झूठी खूटियां गाड़ी खूटियां नहीं थी लेकिन गाड़ने का उपक्रम किया हथौड़े से आवाज की ऊंट खड़ा था वो बैठ गया उसने समझा कि खूटी गाड़ दी गई तब उन्हें थोड़ा विश्वास बढ़ा उन्होंने उसके गले पर रस्सियां बांधी जैसी कि रस्सियां होती और बांधते झूठे हाथ ही फिराए और फिर रस्सियां बांध दी और जाके सो गए ऊंट भी सो गया सुबह वे उठे शीघ्र ही उन्हें यात्रा पर निकल जाना था उन्होंने निन्यानवे ऊंटों की खूंटियां निकाल ली रस्सियां खोल दी सौ ऊंट की तो कोई खूंटी न थी इसलिए खोलने का कोई सवाल न था निन्यानवे ऊंट चलने को तैयार हो गए लेकिन में ऊंट ने उठने से मना कर दिए वे बहुत धक्के देने लगे चाबुक चलाने लगे लेकिन ऊंट है कि उठता नहीं तब उन्हें शक हुआ कि उस बूढ़े ने कोई जादू तो नहीं कर दिया रात भी शक हुआ था कि झोटी खोटी से ऊट बन गया कुछ मर्द तो नहीं कर दिया और जब सुबह ऊट उठा ही नहीं तब शक और पक्का हो गया उन्होंने बूढ़े को जाकर कहा क्या कर दिया तुमने ऊट उठता नहीं उस बूढ़े ने कहा पागलों पहले खोटी उखाड़ो रस्सी खोलो पर वे कहने लगे खोटी है नहीं रस्सी है नहीं उस बूढ़े का जब बांधते वक्त थी तो अभी भी है मजबूरी थी बड़ा पागलपन मालूम हुआ सुबह के प्रकाश में भीड़ इकट्ठी हो गई उस खूंटी को उखाड़ा जो नहीं थी उस रस्सी को खोला जो नहीं थी ऊट उठ के खड़ा हो गया चलने को गया वे उस बूढ़े को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे तुम्हें ऊंटों का बड़ा अनुभव मालूम होता है उस बूढ़े ने कहा ऊंट मैंने पहली दफा देखे मैं तो आदमियों के अनुभव के आधार पर कह दिया आदमी बहुत सी झूठी खोटियों में बंधा है बहुत सी झूठी रस्सियों जिनका कोई अस्तित्व नहीं है सिर्फ कल्पना में ही उनका अस्तित्व एक एक व्यक्ति भी झूठी खोटियों से बनता है समाज भी राष्ट्र भी पूरी की पूरी सभ्यता और संस्कृति भी झूठी खोटियों से बंदी हो सकती है आज तीसरे सूत्र में झूठी खोटी की बुनियादी बात को समझ लेना जरूरी है क्योंकि जब तक हम झूठी खूटियों से मुक्त न हो जाए तब तक समाज में कोई क्रांति नहीं हो सकती और पहली झूठी खूटी क्या है बुनियादी झूठी खूटी क्या है एक एक आदमी भी उसी बुनियादी झूठी खूटी से बनता है समाज भी राष्ट्र भी सभ्यताएं और संस्कृतियां भी वो झूठी खूटी है अहंकार की ईगो की एक एक आदमी को हम अक्सर कहते हैं कि अहंकारी मत बनो लेकिन जब पूरा समाज अहंकार करता है तो कोई भी नहीं कहता क्योंकि समाज के अहंकार में सबके अहंकार की तृप्ति होती है जब पूरा राष्ट्र अहंकार से बंधता है तो कोई भी नहीं कहता क्योंकि पूरे राष्ट्र में सभी के अहंकार की तृप्ति होगी अगर मैं अहंकार करूं तो पड़ोसी को चोट पहुंचती हूं कहता अहंकार बुरी चीज है लेकिन अगर पूरा राष्ट्र अहंकार करे तो राष्ट्र में किसी को पता नहीं चलता कि राष्ट्र का अहंकार और भी खतरनाक चीज है अगर एक एक आदमी का अहंकार खतरनाक है तो पूरे के पूरे समाज समूह और संस्कृति का अहंकार और भी खतरनाक है क्योंकि एक आदमी का अहंकार छोटा सा अहंकार है संस्कृति और समाजों के अहंकार बहुत मजबूत और एक आदमी का अहंकार एक जिंदगी में खत्म हो जाएगा धूल में मिल जाएगा लेकिन संस्कृतियों के अहंकार धूल में नहीं मिलते पुस्त दर पुस्त जारी रहते हैं हजारों लाखों वर्ष तक चलते रहते हैं इतने मजबूत हो जाते हैं उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है भारत बहुत अहंकारी समाज है हम हजारों साल से ये धारणा बनाए बैठे हैं कि हम जगत गुरु कोई कहे या न कहे हम अपने ही मुंह से सारी दुनिया में प्रचार करते रहते हैं कि हम जगत गुरु शर्म भी हमें नहीं आती संकोच भी नहीं होता और ये भी नहीं लगता कि अपने मुंह मिया मिट्ठू बनना बहुत हीनता का लक्षण है ध्यान रहे जो समाज जितना ही होता है उतने ही अहंकार पोषता है हीनता अहंकार की जन्मी है जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है किसी आदमी में जितनी हीनता की ग्रंथि होती है उतना ही दम घोषणा करता है और जिस समाज जितना हीन होता है उतने अहंकार का पोषण करता है भारत इतने अहंकार का पोषण करता है उसका एक ही कारण है कि समाज बहुत भीतर से हीन आत्मा को खो चुका है भीतर से सड़ चुका है भीतर खोखना है बाबा अहंकार की घोषणाएं है हम जगत गुरु हैं कौन कहता है जगत गुरु पूरा मुल्क भी जगत गुरु है और गांव गांव में भी जगत गुरु बैठे हुए जगत एक है और जगत गुरु बहुत कोई पूछता भी नहीं कि ये जगत के इतने गुरु कैसे हो जाते हैं और बड़ा मजा ये है कि ये जगत गुरु जगत से जुड़े पूछे जगत गुरु हो जाते हैं जगत से उन्होंने कभी नहीं पूछा कि हमें गुरु मानते हो मैं एक गांव गया वहां भी एक जगत गुरु थे मैंने पूछा कि जगत गुरु यहां भी इस छोटे से गांव में थी कितने शिष्य हैं इनके जो लोग मेरे पास मिलने आए तो वो कहने लगे शिष्यों की अगर पूछते तो शिष्य तो सिर्फ एक है वो भी वैतनिक है उसको भी तनख्वाह देते वो जमाने में कि मुफ्त में शिष्य मिल जाते थे शिष्यों को भी खरीदना पड़ता खरीदने के सिक्के कोई भी हो सकते हैं दूसरी बात है लेकिन शिष्य भी खरीदने पड़ते और दुनिया में धर्मों के बीच जो झगड़ा है वो झगड़ा सत्य का नहीं है न परमात्मा का सिर्फ शिष्यों को खरीदने का झगड़ा और कोई झगड़ा नहीं दुकानदारियों में ग्राहकों को खरीदने के झगड़े गुरुओं के अड्डे मठ मंदिरों और ग्राहकों को खरीदने के झगड़े धर्मों के नाम पर सारे झगड़े शिष्यों को खरीदने के झगड़े और कोई झगड़ा नहीं एक ही शिष्य वो भी वैतनिक फिर ये जगतगुरु कैसे हो गए गांव के लोग रुकने लगे वो कहने लगे कि वो है जगतगुरु उन्होंने बड़ी ऊंची तरकीब निकाली और उनके ऊपर कोई वैधानिक आरोप भी नहीं उठा सकता है उनका जगत गुरु होना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है वैज्ञानिक नहीं उनका कैसे जगत गुरु वैज्ञानिक हो सकते उन लोगों ने कहा उनका एक शिष्य उसका नाम उन्होंने जगत रख लिया वो जगत गुरु हो गए गांव गांव जगत गुरु है और पूरा मुल्क भी जगत गुरु है हजारों साल से ये नासमझी की बात करवाए चले जाते और कोई हमारे बीच ये नहीं सोचता कि ये थोथा दम किस लिए पोसते हो कभी खबर है इस बात की कभी सोचा ये कि बेगमन ने सिर्फ सम्राट होने का सपना देखते सम्राट नहीं जो कौमें हार जाती हैं वो विजय की कथाओं को याद करती हैं जो कौमें मर चुकी होती हैं वो अतीत के स्वर्ण युगों की बात करती हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो कुछ भी घोषणाएं करके मन को कंसोलेशन और बनाए देते रहते हैं सपने हम वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता है जिसकी हमारी मांग होती है मैंने सुना है एक झाड़ के नीचे बैठ के बिल्ली नींद ले रही थी और सपना देख रही थी एक कुत्ता पास से गुजरता था उसने कहा कि देवी बड़ा आनंद ले रही हो सपने में भी लाल टपकी जा रही तुम्हारी आंखें तो खोलो क्या देख रही हो उस बिल्ली ने कहा कि व्यर्थ मेरी नींद खराब कर दी मैं एक बहुत खूबसूरत सपना देख रही थी आप आकाश से चूहे बरस रहे थे एकदम मूसलाधार चूहे बरस रहे उस कुत्ते का नासमझ नादान बिल्ली मूर्ख बिल्ली तुझे ये भी पता नहीं कि आज तक हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि चूहों की वर्षा होती है शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी जब भगवान की कृपा होती तो हड्डियों की वर्षा होती चूहों की वर्षा कभी हमने नहीं सुनी हमने भी सपने देखे झूठ सपना देख रहे हम जब भी सपना देखते हड्डियों ही बरसती दिखती ठीक है कुत्ते सपना देखेंगे तो हड्डियां बरसेंगी और बिल्लियां सपना देखेंगी तो चूहों की मूसलाधार बरसा होगी तो गरीब सपना देखेगा तो सम्राट हो जाएगा और जो कुछ भी नहीं है वो सपना देखेंगे तो जगत गुरु मालूम पड़ने लगे ये सपने हैं झूठी खोटियों हैं इन झूठी खोटियों में हम सांत्वना मानते रहेंगे तो देश पिछड़ता गया है पिछड़ता चला जाएगा नहीं जीवन को तथ्यों को देखने से जीता जाता है सपनों को देखने से नहीं भारत को अपनी वस्तु स्थिति देखने की हिम्मत जुटानी चाहिए वो हम आज तक नहीं जुटा पाए कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है हम क्या है असलियत में हम सिर्फ कल्पनाएं और सपनों के जान की घोषणा करते और मान लेते हैं कि ये हम हैं इस भांति हम किसको धोखा दे रहे हैं किसी को भी नहीं सिर्फ अपने सिर्फ स्वयं को धोखा दे देते सेल्फ डिसेप्शन है और इस तरह के अहंकार की भारत एक धार्मिक देश इससे झूठी कोई बात हो सकती है कि भारत एक धार्मिक देश क्या मतलब होता है धार्मिक होने कि आदमी चोटी बनाए बैठे तो धार्मिक हो गए कि आदमी रंगीन कपड़े लपेट लेते हैं तो धार्मिक हो गए कि आदमी रोज से रोज के मंदिर आया तो धार्मिक हो जाएगा अगर मंदिरों में जाने से कोई धार्मिक होता और चोटियां बढ़ाने से कोई धार्मिक होता तो दुनिया कभी की धार्मिक हो गई होती इतना सस्ता नहीं है धार्मिक हो जाना किसको धोखा देते हैं धार्मिक होगा जिंदगी बताते हैं हम अधार्मिक है बिल्कुल निपट अधार्मिक लेकिन नहीं हम कहेंगे कैसे अधार्मिक हम गंगा स्नान करते गंगा स्नान करने से धर्म का क्या संबंध लेकिन हम कहेंगे गंगा स्नान करने से पाप श्रद्धा जाती जाते हैं बेईमानों ने ईजाद की होगी ये बात कि गंगा में स्नान करने से पाप कर जाते पापियों ने इजाद की, की होगी ये बात जो पाप भी करना चाहते हैं और पाप से छूटना भी नहीं चाहते वो नदियों में स्नान करके मन को समझाते हैं कि पाप बह जाते नदियों में स्नान करने से पाप बहते होते तो दुनिया कभी की पवित्र हो गई होती रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी गया और कहा कि मुझे आशीर्वाद दे मैं गंगा स्नान को जा रहा हूं रामकृष्ण ने कहा पागल हो गया गंगा स्नान किस लिए जा रहा उस आदमी ने कहा कि पाप धुल जाते हैं गंगा में गंगा का पवित्र पानी है इसलिए जा रहा हूं आशीर्वाद में तो रामकृष्ण तो बहुत सरल सीधे आदमी थे उन्होंने कहा जाता है तो जा लेकिन एक बात ध्यान रखना गंगा के किनारे बड़े बड़े दरख्त देखे वो किस लिए उस आदमी ने कहा किस लिए मुझे कुछ पता नहीं गंगा का महत्व तो पड़ा है लेकिन दरख्तों का भी कोई महात्मा उनके किनारे खड़े ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं रामकृष्ण ने कहा फिर मैं तुझे बता देता हूं जब तू पानी में डूबेगा तो गंगा के प्रभाव से पहाड़ अलग हो जाएंगे दरख्तों पर चढ़ के बैठ जाएंगे और जब तू वापस लौटेगा उतर के फिर सवाल हो जाएगा हाँ अगर पाप से बचना हो तो गंगा में डूबे तो फिर निकलना मत डूबे रह जाएंगे तो बच सकता है क्योंकि गंगा तभी तक तो पवित्र कर सकती होगी जब तक डूबे हुए जब बाहर निकलोगे फिर तो। वही ना हो जाओगे जो तो थे और मजे की बात है कि गंगा में डूबने से गंगा के भीतर भी मर सकते हो लेकिन पाप से कैसे मुक्त हो सकते हो क्या संबंध है इसमें क्या संगति है कौन सा तर्क है लेकिन नहीं हम इस तरह की बातों को धार्मिक होना समझते हैं एक आदमी मुझसे पटक के रोचा जाता है और धार्मिक हो जाता है और चारों तरफ देखता जाता है मंदिर जाते वक्त के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि मैं मंदिर जा रहा हूं उतना ही मजा है मंदिर जाने का रिस्पेक्टेबिलिटी थोड़ा सा आदर चारों तरफ के ना समझ देते उसके अतिरिक्त कोई और अर्थ नहीं मंदिर बना देता है एक आदमी और सोचता है कि धार्मिक हो गया कोई आदमी यज्ञ करवा देता रोटी दिलवा देता है घी फूकवा देता है और सोचता है कि धार्मिक हो गया धार्मिक होना इतनी आसान बात है धार्मिक आदमी होता है चेतनों के रूपांतरण से धार्मिक आदमी होता है आत्मा के परिवर्तन से धार्मिक आदमी होता है प्रभु के मंदिर में प्रवेश से आदमियों के बनाए हुए मंदिर में प्रवेश से कोई धार्मिक नहीं होता न हो सकता है आदमी बना ही कैसे सकता है प्रभु के मंदिर को कभी ये सोचा आदमी बना कैसे सकता है प्रभु की मूर्ति को सब खिलौने अपने हाथ से बनाए हुए भगवान को आदमी कैसे बना सकता है अपनी ही मूर्तियां बना के हुए मंदिरों में उनकी पूजा कर रहे हो अपनी ही मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हो भगवान अगर कहीं है तो आदमी की बनाई हुई मूर्ति में नहीं और जिनको चारों तरफ जीवित जगत में भगवान नहीं दिखाई पड़ता उन पागलों को पत्थर की मूर्ति में दिख जाता होगा ये बड़ा आशीजनक नहीं ये सब धर्म नहीं है लेकिन इसी सब को मान के हम धार्मिक हो गए मेरे एक मित्र स्वीडन गए हुए थे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है बड़े तथाकथित धार्मिक आदमी है शंकर जी की पिंडी अपने पास रखते हैं छाती के पास दबा कि कहीं कोई बुराई ना हो जाए अब बेचारे शंकर जी की पिंडी क्या करेगी तुम्हें तो बुराई करने से रोकने में तुम्हारे साथ वो भी अपवित्र हो जाएगी तुम उसके साथ पवित्र नहीं हो सकते हो गए थे स्वीडन शाकाहारी में एक शाकाहारी होटल खोज खाज के पहुंचे होंगे और वहां जाकर उन्होंने कहा होगा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए प्योर मिल्क चाहिए उस बैराने का प्योर मिल्क कभी सुना नहीं कंडेंस मिल्क सुना है पेस्चराइज मिल्क सुना है किसी और मिलकर क्या बड़ा है उन्होंने कहा तुम समझ, समझते नहीं अपने मैनेजर को बुला लो मैनेजर भी घबराया वो आया और कहा कि मां से क्षमा करिए हम बड़े दुखी हैं कि आपकी सेवा करने में असमर्थ है हमारे मेनू पर प्योर मिल्क जैसी कोई चीज नहीं मिल्क मिल सकता और तरह के मिल्क मिल सकते लेकिन ये प्योर मिल्क से क्या मतलब है आपका उनका मतलब साफ है कि जिस दूध में पानी न मिला हो उसको हम सब दूध कहते हैं उस मैनेजर ने कोई देश ऐसा भी है कहीं जहां कोई दूध में पानी मिलाता है दूध में कोई पानी किस लिए मिलाएगा हमारा दिमाग खराब है हम दूध में पानी किस लिए मिलाएंगे तब उन मित्र को होश आया कि वो धार्मिक देश से आ रहे और कहने लगे कि क्षमा करना हमारे देश में तो बहुत मुश्किल है ऐसा दूध मिलना जिसमें पानी न मिलाओ मुझे लौट के बता रहे थे मैंने कहा कि तुम्हें अभी पूरी हाल से पता नहीं है वो जमाना गया जब दूध में हिन्दुस्तान में पानी मिलाया जाता था अब पानी में दूध मिलाया जा रहा है तो पिछले जमाने की बातें कर रहे हो अब धार्मिक हिन्दुस्तान और भी आगे बढ़ गया और भी धार्मिक हो गया धार्मिकता होती है व्यक्तित्व की सुगंध में धार्मिकता क्रियाकांड में नहीं होती धार्मिकता एक सुगंध है जो पूरे जीवन के आचरण पूरे जीवन की गंध पूरे जीवन के व्यक्तित्व के खिलने से प्रकट होती है लेकिन यहां यही समझाया जाता रहा है कि इस तरह के थोथे काम कर लो और धार्मिक हो जाओ और बाकी जिंदगी में पूरी तरह अधर्म करो उसका कोई डर नहीं है क्योंकि सप्ताह में एक दिन सत्यनारायण की कथा करवा देंगे या कभी वर्ष में एक बार तीर्थ आएंगे या मरते वक्त भगवान का नाम ले लेंगे हद हो गई जिस आदमी ने जिंदगी भर भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ा वो भी सोचता है कि मरते वक्त नाम ले लेंगे ऐसी कहानियां गई है शोषण करने वालों ने कि एक आदमी मर रहा था उसके बेटे का नाम नारायण था मरते वक्त उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण और आकाश वाला नारायण धोखे में गया और समझा कि मुझे बुला रहा उसको स्वर्ग भेज दिया तुम तो बुद्धि हो ही आकाश के नारायण को भी बुद्धि बनाने की लगे वो अपने बेटे को बुला रहे थे और नारायण धोखे में आ गए जब इतना सस्ता हो मोक्ष में चला जाना तो कोई आदमी धार्मिक होने की कोशिश क्यों करे मरते वक्त एक दफे नाम ले लेंगे और अगर खुद की जबान बंद हो जाए तो एक ब्राह्मण को किराए पर रखने में वो नाम कान में बोलता रहेगा नारायण नारायण जिंदगी अखंड है ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर एक आदमी आधार में रहा हो मरते वक्त भगवान का नाम ले लें पहला तो मजा ये कि भगवान का नाम नहीं है कोई भगवान का कोई नाम नहीं है आदमी का भी कोई नाम नहीं है आदमी बिना नाम के पैदा होता है नाम हम देते हैं नाम कहीं भी नहीं है नाम मनुष्य की ईजाद है भगवान का तो कोई भी नाम नहीं है नाम पुकारेंगे कैसे लाख चिल्लाओ राम राम रहीम रहीम खाली आकाश में व्यर्थ चिल्ला रहे हो उसका कोई नाम नहीं है जिसको तुम बुला रहे हो उसे बुलाना हो तो सब बुलाने बंद कर देना पड़ता है चुप हो जाना पड़ता है मौन हो जाना पड़ता है वहां शब्द भी खो जाता है विचार भी खो जाता है सब खो जाता है शास्त्र भी खो जाता है स्वयं होना भी खो जाता है वहां परिपूर्ण मौन है टोटल साइलेंस है वहां उसकी पुकार होती है और जो पागल राम राम राम राम कर रहा है इस आदमी का दिमाग खराब है और कुछ भी नहीं अगर एक आदमी बैठ के कुर्सी कुर्सी कुर्सी करे तो हम उसका इलाज करवाएंगे और इसको हम समझ रहे हैं कि धार्मिक बड़े महात्मा हम उनको हाथ जोड़ रहे हैं विकृत दिमाग विकृत है शब्द की पुनरुक्ति पागलपन का लक्षण है शब्द का छूट जाना धार्मिक होने का लक्षण है यह राम राम का जो चक्कर चला रहा है इस आदमी का मस्तिष्क कोल्हू का बैल हो गया चक्कर उसके भीतर घूम रहा है इसको हम कहते हैं कि भारतीय जिंदगी एक अखंड धारा गंगा निकलती है गंगोत्री से पूछता था तिजोरी की चाबी ये वो सब बातें पूछता था पत्नी ने कहा धन्यवाद कि आज अंतिम क्षण में उसने पूछा अपने बेटे को उसने कहा निश्चिंत रहो बेटा मौजूद है उस आदमी ने और घबरा के पूछा कि नंबर दो का बेटा कहा उसकी पत्नी ने कहा करूँ यही नंबर दो का भी मौजूद नंबर तीन वो भी है वो आदमी हाथ उठा के उठने लगा उसकी पत्नी का आप लेते रहे आप उठे मत उसने कहा नंबर चार पत्नी ने आप घबराते क्यों हम सभी ही मौजूद नंबर चार भी हैं वो आज मुझ के बैठ जाओ तो नंबर पांच कहाँ है तो उसकी पत्नी ने कहा वो आपके पैर के पास बैठा आप घबराते क्यों तो उस आदमी ने कहा घबराऊ क्यों नहीं फिर दुकान कौन चला रहा है जब सभी दुकान पर कौन है तो पत्नी भूल में थी कि प्रेम की याद आ रही जिंदगी भर जिसको पैसे की याद आई हो मरते वक्त प्रेम की याद कैसे आ सकती असंभव है इम्पॉसिबिलिटी है चित्त के भी तो नियम है कुछ चित्त में भी तो कोई सातत्य है चित्त की भी तो कोई धारा है चित्त जैसा निर्मित हुआ है वही होगा आखिरी क्षण में इसलिए धार्मिक होना कुछ ऐसा नहीं है कि आप आखिरी वक्त में धार्मिक हो जाएंगे और मानी धार्मिक होना कुछ ऐसा है कि तेईस घंटे आप अधार्मिक रहें और एक घंटे आप धार्मिक हो जाए ये भी नहीं हो सकता ये हो सकता है कि तेईस घंटे सांस में लें और एक घंटे सांस लें ये हो सकता है कि एक घंटे सांस ले लेंगे और तेईस घंटे सांस नहीं लेंगे तो फिर दोबारा घंटा नहीं आएगा सांस लेने वाला सांस एक सतत धारा है चेतना भी सांस की तरह एक धारा है आप हाँ। तो एक घंटे के लिए धार्मिक नहीं हो सकते हाँ धार्मिक होने का धोखा दे सकते हैं लेकिन किसको सिवाय अपने को और किसी को भी नहीं एक घंटे के लिए आदमी धार्मिक होने का सिर्फ धोखा दे सकता है क्योंकि कोई आदमी अगर एक घंटे के लिए धार्मिक हो जाए तो सारी जिंदगी धार्मिक होने की यात्रा में संलग्न हो जाएगी तो धार्मिक होना इतनी बड़ी क्रांति है धार्मिक होना इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है सारी चेतना का बदल जाना है नया हो जाना तो धार्मिक होने का भ्रम है लेकिन देश को और इस भ्रम के कारण देश धार्मिक नहीं हो पाता है धार्मिक होने की झूठी खूटी गाल रखी और उस खूटी को जगत गुरु शंकराचार्य और फलाने गुरु और ढिकाने गुरु सब सब खूटी को गाड़ते चले जाते हैं अभी मैंने पढ़ा कल्याण में एक लेख देखा देख के मैं हैरान रह गया इस बीसवीं सदी में इस भारत में ऐसे दुर्भाग्य की घटनाएं भी घटती हैं शंकराचार्य दिल्ली में ठहरे हुए हैं किसी मठ के और एक आदमी उनके पास आया और उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं हम लोगों की एक छोटी सी मंडली है हम चाहते हैं आप हमें ब्रह्म ज्ञान पर चल के उपदेश दें शंकराचार्य ने नीचे से ऊपर तक उस आदमी को देखा होगा ब्रह्म ज्ञान कोट पतलून पहन के ब्रह्मज्ञान पाना चाहते हो तो ऋषि मुनि नासमर्थ थे तो वो भी कोट पतलून पहन लेते कोट पतलून पहन के कभी किसी को ब्रह्मज्ञान हुआ बता सकते हो वो आदमी रोला गया होगा वो बेचारा ब्रह्मज्ञान के संबंध में सुनने गया था उसे पता नहीं था कि ब्रह्मज्ञानी की जगह कोई दर्जी बैठा हुआ जिसका हिसाब कपड़े लत्तों का अगर चमारों के पास जाओ तो सिलाए जूते के उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता दर्जी के पास जाओ सिलाए कपड़े को कुछ नहीं दिखाई पड़ता एक सन्यासी के पास हम आशा नहीं करते हैं कि कपड़े दिखाई पड़ेंगे उसको उसे कुछ और दिखना चाहिए कपड़ों के पास उसे कुछ और दिखना चाहिए जहां शरीर भी नहीं दिखाई पड़ता लेकिन उनको कपड़े दिखाई पड़ रहे और ये जगत गुरु है ये सन्यासी है ये मुल्क को धार्मिक बना रहे हैं ये सब धोखाधड़ी चलेगी तो ये मुल्क मरेगा इस मुल्क में कभी क्रांति नहीं हो सकती यही बात नहीं रुक गई आसपास दस पच्चीस मोड़ तो जरूर बैठे होंगे वो वो सब फिर हिलाने लगे कि महाराज कितनी ऊंची बात कहती इन दुष्टों से पीछा नहीं छूटता महाराजों का वो वहम पैदा करते रहते हैं कि बड़ी ऊंची बात कही जा रही महाराज का जोश और बढ़ गया होगा महाराज का जोश उतनी बढ़ता जितने अनुयायी ना समझ हो उन्होंने कहा चोटी है चोटी है कि नहीं चोटी निकाल के दिखाओ चोटी मेरी थी चोटी वो आदमी कितना घबरा गया होगा उस बेचारे का कैसा अपमान हुआ है ब्रह्म ज्ञान पूछने गया था और यही बात खत्म नहीं हो गई जाहिलपन का हद हो गई आखिरी जो बात उन्होंने कही हैरानी होती उस आदमी से पूछा कि खड़े होकर पेशाब करते हो कि बैठकर क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने वाले लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं सकता ये मुझे पहली दफे पता चला कि ब्रह्म ज्ञान का भी पेशाब करने के ढंग से संबंध है इस स्टूपिडिटी का नाम धर्म है इस मूलता का नाम धर्म है इसको चलाएंगे इस देश में और आगे इसको एक दिन चलाने की जरूरत नहीं है एक क्षण चलाने की जरूरत नहीं है छोटी खोटी उखाड़ कर फेंक देने लायक तकलीफ होगी जरूर बहुत तकलीफ ये होगी कि हमारा अहंकार जुड़ गया है इस बात से कि हम धार्मिक लोग हैं और अहंकार बड़ी तकलीफ देता है जब टूटता है अहंकार जब खिसकता है तो प्राणों को बड़ा कष्ट होता है मन होता है कि अपने अहंकार को संभाले रहो आंख बंद रखो मत देखो उन चीजों की तरफ जिनसे अहंकार को चोट पहुंचती और अहंकार बुनियादी कमजोरी है बेसिक वीकनेस है चाहे आदमी में हो व्यक्ति में हो चाहे राष्ट्र में हो मैंने सुना है एक दिन सुबह एक सम्राट अपने घोड़े पर एक छोटे से झोपड़े के सामने रुका है थका हुआ है शायद रात भटक गया होगा शायद शिकार को निकला होगा रास्ता भूल गया मल नहीं पहुंच पाया झोपड़े का मालिक और गरीब बूढ़ा अपने दरवाजे पर बैठा उसको नमस्कार करता है वो सम्राट कहता है मैं बहुत भूखा हूं दो चार अंडे मिल सकते हैं उस बुढ़े ने कहा कि निश्चित ही स्वागत है वो भागा हुआ भीतर गया दो चार अंडे लेकर आया थोड़ा दूध लेकर आया सम्राट ने नाश्ता किया चलते वक्त उससे कहा कि कितने पैसे हो गए उस बुढ़े ने कहा ज्यादा नहीं मारा सिर्फ सौ रूपये सम्राट ने कहा सौ रूपये चार अंडे के सौ रूपये बहुत महंगी चीजें मैंने जिंदगी में खरीदी लेकिन इतने महंगे अंडे यहाँ आर एफ सोरेयर इतना मुश्किल अंडे का मिलना क्या यहाँ उस आदमी ने कहा नहीं महाराज eggs are not rare but king are अंधों का मिलना तो बहुत मुश्किल नहीं राजाओं का मिलना बहुत मुश्किल है उस सम्राट ने सौ रुपये निकाल के एकदम दे दे है उस बूढ़े की औरत बड़ी हैरान हुई चार पैसे के अंडे नहीं थे सम्राट के घोड़े की टाप सड़क पर बड़ी और बूढ़ी ने अपने पति से पूछा आश्चर्य कैसे लूट लिया तुमने उस आदमी को सौ रुपये चार अंडों के क्या हो गया क्या तरकीब थी उस आदमी ने कहा तुझे तरकीब पता नहीं आदमी के भीतर एक कमजोरी है जिसके भी भीतर हो उसको लूटा जा सकता है उसने कहा कौन सी कमजोरी उस आदमी ने कहा मैं तुझे कहानी बताता हूं अपनी जवानी की जिंदगी की जब मैंने ये तरकीब सीखी शायद तुझे समझ में आ जाए जब मैं जवान था बहुत गरीब बहुत परेशान था एक गुरु से मैंने पूछा कि कैसे रुपया कमाऊं उसने कहा रुपये है तुम्हारे पास क्योंकि रुपए हो तो रुपए रुपए को खींच लाते हैं रुपए नहीं थे तो उसने कहा फिर तुम्हें तरकीब सीखना पड़ेगी ऐसी तरकीबें हैं कि बिना रुपए के भी रुपया खींचाता वो क्या तरकीब है उसने कान में मंत्र दिया उसका मंत्र लेकर मैं बाजार गया मैंने चार रुपए की पगड़ी खरीदी उधार रुपए तो नहीं थे रंगीन और चमकदार पगड़ी सिर्फ रखी और सम्राट के दरबार में पहुंच गया इतनी चमकदार पगड़ी थी कि जिसकी भी नजर जाए फौरन पगड़ी दिखाई पड़े सब सस्ती चीजें चमकदार होती और चमकदार चीजों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि असली चीज कभी भी चमकदार नहीं होती असली चीज को चमकदार होने की जरूरत नहीं होती नकली चीज को चमकदार होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता चमक में उसकी जिंदगी होती वो जो बाहर दिखाई पड़ती वही वो है भीतर तो कुछ भी नहीं सम्राट को भी एकदम पगड़ी दिखाई पड़ी बड़ी रंगीन बड़ी चमकदार ऐसी पगड़ी उसने भी नहीं देखी थी उसने पूछा पगड़ी कहां से ले आए हो तो उस बूढ़े ने कहा मैंने उस सम्राट को कहा महाराज बहुत महंगी चीज है आपके बस के बाद उसने कहा क्या कहते हो कितनी महंगी है तो उसके गुरु ने उसे बताया था कि बता देना पांच हजार उसने कहा पांच हजार रूपये की है महाराज विश्वास आता सम्राट ने का हैरान कर दिया और तभी वजीर जो बगल में बैठा था वो झुका और सम्राट के कान में कुछ बोला उस बोलने का मैं समझ गया कि वजीर क्या बोल रहा है क्योंकि जो आदमी किसी को लूटता रहता है वो दूसरे को नहीं लूटने देना चाहता है मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा होगा सम्राट ने कहा कि पागल हो गए हो लूटना चाहते हो बेईमान कहेंगे कारागृह में डलवा दूंगा तो बूढ़े ने कहा कि मैं हंसने लगा मैंने कहा कि ठीक है वही सुनने को मिला जो सुना था खबर मिली थी तो मैं जाऊं क्षमा करे गलती जगह आ गया सम्राट ने पूछा तेरा मतलब क्या है तो मैंने कहा कि मुझे कहा है इस पगड़ी के मालिक ने कि इस जमीन पर एक ही ऐसा सम्राट है एक ही इस पूरी पृथ्वी पर जो इस पगड़ी को पांच हजार रूपये में खरीद सकता है मैं उसी की खोज में निकला क्षमा करे महाराज गलत जगह आ गया उस सम्राट ने कहा पगड़ी खरीदो पगड़ी उसी वक्त खरीदो वो पगड़ी पांच हजार रूपये में खर्च की गई ह्यूमन वीकनेस आदमी की एक ही कमजोरी है अहंकार एक एक आदमी उसी कमजोरी में बर्बाद होता है और जब कोई पूरा समाज उस कमजोरी में पड़ रहा है तो उसकी बर्बादी निश्चित हो जाती है भारत अहंकार की वजह से बर्बाद हुआ है और भारत आज भी अहंकार को ही लेके जी रहा है और कितने आश्चर्य की बात है कि अहंकार गिरने के कितने मौके आए लेकिन हमने संभाल लिए हजार साल गुलाम रहे लेकिन अहंकार को नहीं गिरने दिया लाते खाई न मालूम किन किन कौमों की जो भी कौम आई उसने लातों में गिरा दिया लेकिन हम सब तरह से गिर गए लेकिन अहंकार को ऊंचा रखा उसको नहीं गिरने दिया सब दरिद्र पर दलित हुए जीव हुए दरिद्र हुए सब खो दिया बाहर की संपदा खो दी भीतर की आत्मा खो दी सब खो दिया लेकिन एक बात बचाए रखे वो अहंकार वो ईगो हम हम कुछ हैं जब गुरु हैं धर्मनिष्ठ है आध्यात्मिक है ये बातें हमने बचाए रखी इन झूठी खूटियों पर देश अटका है अगर क्रांति चाहिए तो इस अहंकार को जाने दो तो कष्ट होगा लेकिन इस कष्ट को झेलना जरूरी है जैसे माँ प्रसव की पीड़ा को झेलती है नए जन्म के पूर्व अगर इस समाज को नया जन्म चाहिए तो इसे अहंकार के मिटाने की प्रसव पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा क्यों इतना जोर से मैं कहता हूं कि अहंकार को छोड़ना जरूरी हो गया की इसलिए कहता हूं कि जब तक अहंकार होता है तब तक हम अतीत से बंधे रहते हैं ध्यान रहे अहंकार हमेशा पास्ट का होता है अतीत का होता है भविष्य को तो हम जानते नहीं उसका कोई अहंकार नहीं होता अहंकार हमेशा पास्ट हेरिटेज का होता है अतीत का होता है वो जो पीछे हो चुका है उसको संग्रहित करके हम अहंकार को बनाते हैं अहंकार जिस समाज में होता है वो समाज अतीत उन्मुख होता है वो समाज हमेशा पीछे की तरफ देखता है वो समाज आगे की तरफ कभी नहीं देखता और जो समाज आगे की तरफ नहीं देखता वो कैसे निर्माण करेगा वो कैसे भविष्य के अनजान रास्तों पर चलेगा वो कैसे नए समाज को बनाएगा वो कैसी नई जिंदगी को पैदा करेगा वो कैसे नए तारों पर चरण रखेगा वो कैसे नए इतिहास वो कैसे नए दिन नई रातें नए सूरज पैदा करेगा वो जो पीछे देखता है वो आगे कैसे देख सकता है अहंकारी समाज सदा पीछे देखता है अहंकारी आदमी भी सदा पीछे देखता है अहंकारी आदमी कहता मैं याद है पद्म भूषण की पदवी मिली थी भारत रत्न हो गया जेल गया था उन्नीस सौ वो पीछे देख रहा है वो जो मर चुका है उसका संग्रह किए बैठा है अहंकार मरे हुए का संग्रह है अहंकार डेड जो जा चुका है उसका संग्रह अहंकार हमेशा मृत संग्रह है जीवित आदमी के पास अहंकार नहीं होता क्योंकि जीवित आदमी जीता है वर्तमान में भविष्य उन्मुख आगे की तरफ देखता हुआ आगे तो अभी कुछ किया नहीं है इसलिए उससे अहंकार निर्मित नहीं होता पीछे कुछ हो चुका है उससे अहंकार निर्मित होता है अहंकारी समाज पीछे की तरफ देखता है अहंकारी समाज अतीत से जुड़ा रह जाता है वो कहता है राम राज राम राज चाहिए जो हो चुका वही चाहिए उसे फिर से कुछ और नया बनाने की हिम्मत नहीं कुमत नहीं और राम राज्य में क्या था जिसकी वजह से चाहिए क्या है राम राज्य में एक सामंतशाही फ्यूडल व्यवस्था जहां राजा की पत्नी के भी बचाए रखने की कोई भरोसा नहीं एक समाज जहां आदमी बिकता है गुलाम आदमी बिकते थे रामराज के वक्त बाजार में दास्ता की दुनिया एक ऐसा समाज जहां राम जैसा अच्छा आदमी भी एक गरीब शूद्र के कानून में सीसा पिघला के डाल देता है क्योंकि उसने वेद का मंत्र सुन लिया है ऐसे बेहूदे समाज को फिर से लाना चाहते ऐसे समाज को फिर से लाने की बात सोचते हैं जिंदगी को पीछे ले जाना चाहते लेकिन जिन समाजों का अहंकार है वो आगे की तरफ देखते हुए उनकी मजबूरी है उनकी आंखें जो है वो आगे की तरफ देखती नहीं उनका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है गर्दन जकड़ गई है और गर्दन पैरालाइज हो गई उनकी हालत ऐसी जैसे हम कोई कार बनाए और पीछे की तरफ लाइट लगा दे गाड़ी आगे की तरफ चले और लाइट पीछे की तरफ पड़े उल्टी हुई पीछे की मूर्ति हुई दूर दिखाई पड़े रास्ता दिखाई पड़े तो दुर्घटना होनी निश्चित भारत के इतिहास में दुर्घटनाओं का मूल कारण भारत का सदा पीछे की तरफ देखना भारत का पूरा इतिहास दुर्घटनाओं का इतिहास में कल भी दुर्घटनाएं होंगी परसों भी होंगी जिंदगी और नई दुर्घटनाएं लाएगी अभी जिंदगी खत्म नहीं हो गई और दुर्घटनाएं भारत में होती ही रहेंगी क्योंकि भारत अभी भी पीछे ही देखता है वो आगे की तरफ नहीं देखता अहंकार पीछे की तरफ झुकाता है अहंकार खो जाता है तो आदमी की तरफ आगे की तरफ देखता है कभी आपने ख्याल किया छोटे बच्चे कभी पीछे की तरफ नहीं देखते छोटे बच्चे सदा आगे की तरफ देखते छोटे बच्चे भविष्य के सपने देखते उनका कोई अतीत होता ही नहीं देखेंगे भी तो क्या देखेंगे कुछ पीछे होते ही पीछे क्या है मेरा आदमी आपको पता है कभी आगे की तरफ नहीं देखता सदा पीछे की तरफ देखता है क्योंकि बूढ़े के आगे कुछ नहीं होता सिवाय मौत के वहां एक अंधेरा पर्दा है मौत का वहां देखने से फायदा क्या है वहां देखने में डर लगता है वो पीछे लौट के देखता रहता है वो कहता आहा बचपन के दिन जवानी की बातें वो गीत वो सपने वो प्रेम वो सब उसी में खोया रहता है बूढ़ा आदमी जवानी में खोया रहता है जितने जवान भी जवानी में नहीं होते और इसलिए बूढ़ा आदमी जवानों को बड़ी ईर्षा करता है वो ईर्षा अपनी याददाश्त की जवानी के कारण था कोई कारण नहीं बुरा पीछे देख रहा है पीछे देख रहा है और जो बुरा आदमी पीछे नहीं देखता वो बुरा आदमी मरते वक्त तक बच्चा होगा उसकी जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं आता बुढ़ापा उम्र की बात नहीं है देखने के ढंग की बात है अगर बच्चा भी पीछे की तरफ देखने लगे तो बूढ़ा हो गया और अगर बूढ़ा आदमी मरते क्षण तक भी पीछे की तरफ न देखे और आगे की तरफ देखे तो वह आदमी सदा जवान है और ऐसा आदमी अमृत को उपलब्ध हो जाता है ऐसे आदमी को मृत्यु छू भी नहीं पाती क्योंकि ऐसा आदमी मृत्यु के क्षण में भी जो मृत्यु के आगे है उसको देख लेता है वो जो अमृत सुखरात मर रहा उसको जहर दिया जा रहा है बाहर जहर घोटा जा रहा है वो जो आदमी जहर घोट रहा है वो धीरे धीरे घोट रहा है कि सुखराज जैसा अच्छा आदमी थोड़ी देर और जी ले लेकिन सुखराज बार बार दरवाजे को उसके पहुंच जाता है और कहता है मित्र बड़ी देर लगा रहे हो जल्दी करो समय हुआ जाता है वो आदमी अपने सिर का हाथ ठोक लेता है कहता पागल हो गए सुखराज मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे हाथ चला रहा हूं मेरे आंसू टपक रहे हैं मेरा हृदय कप रहा है कि आज मेरी कड़क प्यारे आज को जहर दे रहा हूं जल्लादों का हृदय कप जाता है प्यारे आदमियों को सूली देते वक्त लेकिन पुरानों पंडितों नेताओं का दिल नहीं कपता जल्लाद भी रोते हैं लेकिन जिनको हम सज्जन कहते हैं वो नहीं रोते आज तक दुनिया में अच्छे लोगों को सज्जनों ने सूली दी है प्यारे लोगों को जीसस को ये मंसूर ये अभी गांधी को लेकिन सुकरात कहता है कि जल्दी करो मित्र वो पूछता है तुम पागल हो गए हो इसकी जल्दी क्या मरने की सुकरात कहता है जल्दी बहुत है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं मृत्यु के आगे क्या है नहीं याद कर रहा है बचपन को नहीं याद कर रहा है उन दिनों को जो बीत गए मरते क्षण में भी नहीं ख्याल कर रहा है वो जो बीत चुका बीत चुका वो बीत चुका उसकी क्या ख्याल की जरूरत अभी जो आने को है दी अनोन वो जो अज्ञात द्वार पर खड़ा है वो उसको झांक लेने की तबीयत से तड़प रहा मित्र रोते हो कहते सुखरात मत करो जल्दी सुखरात कहता है जिंदगी तो बहुत देख ली मौत नहीं देखी अनजान अपरिचित नहीं उसे देखने का मन करता है कि यह आदमी जवान है यह आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता यह हजारों वर्ष जिंदा है बुरा नहीं हो सकता ये मर जाए तो भी यह आदमी मरता नहीं क्योंकि यह आदमी जो भविष्य के प्रति इतना उन्मुख है वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है चाहे व्यक्ति हो और चाहे समाज जो समाज भविष्य के प्रति सतत उन्मुख है वो समाज कभी नहीं मरता वो समाज सदा जवान रहता है भारत मर गया वो अतीत की तरफ उन्मुख है भारत जवान नहीं रहा और भारत को जवान बनाना जरूरी है तो भारत में क्रांति हो सकती है जवानी क्रांति करती है बुढ़ापा क्रांति कैसे कर सकता है पूरे देश की आत्मा बूढ़ी हो गई क्यों पीछे देखने की बच्चे देख रहे हैं रामलीलाएं बैठे हैं हर वर्ष अभी जाओ रास्ते से निकला हूं होली जल रही है आग लगा के बैठे हुए हैं लोग अहमदाबाद में बीसवीं सदी में आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि कौन लोग रहते थे आग जलाते थे एक दिन बैठ के दिमाग दुरुस्त था कि खराब था क्या प्रयोजन था क्यों ये सब पागलपन जारी है और कोई कारण नहीं दिल का जो कुछ बन गया है वो बन गया छोड़ने की हिम्मत नहीं आग जलाना भी नहीं छोड़ सकते और हाथ छोड़ा जा सकता ये बूढ़ा चित्त ये मरा हुआ चित्त ये पीछे की तरफ देखने वाला अहंकारी चित्त जाना चाहिए इसलिए तीसरा सूत्र कहता हूं समाज के अतीत से निर्मित अहंकार का त्याग बिल्कुल पूरी तरह त्याग ताकि चित्त नया हो जाए फ्रेश माइंड पैदा हो जाए मन के पास ताजा दिमाग पैदा हो जाए जो पीछे के बोझ से घिरा हुआ नहीं है जो आगे की तरफ देखता है चांदारों की तरफ जो दूर है क्यों आगे की तरफ देखने के लिए इतना आग्रह क्यों करता हूं इसलिए करता हूं कि जो आगे की तरफ देखता है वो क्रिएटिव हो जाता है सृजनात्मक हो जाता है क्योंकि आगे की तरफ सिर्फ देखा नहीं जा सकता आगे को निर्मित करना पड़ता है आगे चलना है जीना है उसको निर्मित करना पड़ता है पीछे सिर्फ देखा जा सकता है पीछे कुछ निर्मित नहीं करना है आपको सिर्फ देखना है पीछे सिर्फ तमाशबीन हुआ जा सकता है पीछे सिर्फ नाटक देखना है और कुछ भी नहीं करना आगे आगे कुछ करना है आगे कुछ करना पड़ेगा आगे जिंदगी को पैदा होना है निर्मित होना है तो जो समाज आगे देखने लगता है वो रचनात्मक हो जाता है हम कहा देखते हैं तो बहुत कुछ निर्भर मैंने सुना है यूनान में एक बहुत बड़ा ज्योति था वो ज्योति एक दिन सांझ को निकल रहा है तारों को देखता हुआ एक गड्ढे में गिर पड़ा दूर से चिल्लाया बहुत कोई नहीं था पास एक बूढ़ी का झोपड़ा था वो बूढ़ी आई बमुश्किल उस बूढ़ी औरत ने उस ज्योति को बाहर निकाला उसके दोनों पैर टूट गए जोशी ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और उस बुरी औरत से कहा कि शायद तुझे पता नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा जोशी हूं मेरा नाम कभी सुना चांद तारों के संबंध में मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई आदमी नहीं अगर तुझे कभी ज्योतिष के संबंध में कुछ पूछना हो तो मेरे पास आ जाना सम्राटों को भी मैं बिना फीस लिए नहीं कुछ कहता हूं तुझसे बिना फीस लिए कुछ कहूंगा उस बुरी औरत ने कहा पागल बेटे मैं कभी नहीं आऊंगी उसने कहा क्यों उसने कहा कि जिस जमीन के गड्ढे ही नहीं दिखाई पड़ते उसके चांदारों से क्या भरोसा उसके चांदारों के ज्ञान का जिसको जमीन का आगे का एक कदम गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता है वो उतने दूर उतने आगे के तारों को देखता होगा ये भरोसे की बात नहीं बेटा मैं कभी नहीं आऊंगी उस जोशी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है उसी दिन मेरा जोश हो गया मेरी हिम्मत टूट गई उस बूढ़ी ने ठीक कहा मोक्ष को देखता है भारत स्वर्ग को देखता है नर्क को देखता है आगे का इंच भर पहले का घंटा दिखाई नहीं पड़ता अहमदाबाद की जागृति पता नहीं होगी लेकिन नरक का नक्शा लिए बैठे बता सकता है आदमी की नरक में पना पना जगह ये ये स्वर्ग में ये ये बैठे हैं मंदिरों में लोग पूछ रहे हैं महाराज देवताओं की कितनी योनियां होती और महाराज बता रहे पूछने तक तो ठीक था पूछने वाले ना समझ हो सकते हैं लेकिन बताने वालों के साथ औरत हो गई मैंने सुना एक दिन एक स्कूल में एक बड़ी अजीब घटना घटी एक छोटा सा स्कूल बहुत स्कूल घबराया हुआ है सारे स्कूल के बच्चे बहुत चिंतित थे एक इंस्पेक्टर आने वाला निरीक्षण के लिए वो खबर आ गई कि उसका दिमाग खराब और वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि जिनके उत्तर हो ही नहीं सकते और फिर रिपोर्ट खराब कर देता तो न मालूम किस किस तरह के प्रश्न बच्चों को सिखाए जा रहे हैं तैयार बच्चे किए गए इंस्पेक्टर आ गया वो दिन आ गया इंस्पेक्टर भीतर आया एक कक्षा विशेष रूप से तैयार की गई है सब बुद्धिमान बच्चे इकट्ठे कर लिए गए हेड मास्टर खड़ा है मास्टर खड़े सब खड़े उस इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटो एक सवाल पूछता हूँ और ये सवाल मैंने बहुत जगह पूछा इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो फिर मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरा नियम यह है कि चावल का एक दाना हंडी से निकाल कर देख लेना तो काफी होता है और अगर इसका जवाब तुम नहीं दे सके तो फिर मैं हूं और तुम हो और आज का दिन इसलिए इसको बहुत सोच के जवाब दे दे सब सांसें रुक गई उसने प्रश्न पूछा बड़ा सरल प्रश्न पूछा और प्रश्न ये पूछा कि एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा कलकत्ते की तरफ 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तो तुम बता सकते हो कि मेरी उम्र क्या है बच्चे रह गए प्रधान अध्यापक रह गया जो हो गया खत्म काम क्योंकि हवाई जहाज किसी रफ्तार से उड़े और दिल्ली से उड़े की पेकिंग से उड़े और कहीं भी जाए इससे किसी इंस्पेक्टर की उम्र का क्या संबंध लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं हुआ क्योंकि इंस्पेक्टर तो पागल था एक लड़का जोर जोर से हाथ हिलाने लगा शिक्षक घबरा गए कि ये तो पागल है कक्षा में ये पागल ये क्या उत्तर देगा क्योंकि इसका कोई भी उत्तर गलत होगा क्योंकि प्रश्न ही गलत बेमानी एप्सर्ड है लेकिन उस बच्चे को पीछे ने इशारा किया अध्यापकों ने लेकिन वो तो जोर का न मिला वो किसी को नहीं देख रहा इंस्पेक्टर तो खुश हो गया उसने कहा ये बच्चा हिम्मत वाला ये पहला मौका है इस प्रश्न के उत्तर को देने की किसी ने हिम्मत की कोई फिक्र नहीं गलत भी हो लेकिन बेटे खड़े हो जाओ मैं बहुत खुश हूँ तुमने हिम्मत तो की उस लड़के ने कहा हिम्मत का सवाल नहीं मेरे सवाल इस पृथ्वी ने इसका उत्तर कोई दे नहीं सकता आपकी उम्र चवालीस वर्ष है इन प्रत्यक्ष रांधा गया उसकी उम्र चवालीस वर्ष थी उसने कहा बेटे तुमने किस विधि से पता लगाया उसने कहा विधि बहुत आसान है मेरा बड़ा भाई है उसकी उम्र बाईस वर्ष है वो आधा पागल करने वाले लोग बैठे वो कहते हैं कि हम चिट्ठी लिख देंगे पैसा हमको दे दो चिट्ठी हम भगवान को लिख देंगे मैं भी सूरत में था कुछ दिन पहले वहां लोगों से कह रहा था सूरत में कि पोप ने मध्य युग में यूरोप में टिकटें बेची लोगों के लिए एक एक लाख रुपए की टिकट कि जो टिकट ले लेगा उसको ही स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा और हजारों लोगों ने टिकटें खरीदी पोप को रुपए मिले टिकट उनको दे दी गई और कब्र में टिकट लिए उनको लिटा दिया गया पता नहीं उनको कहीं जाना प्रवेश वगैरह मिला कि नहीं मिला वो टिकटे मान्य हुई कि नहीं हुई वो कुछ पता नहीं मैं ये कह रहा था एक आदमी ने मुझे आगे कहा आप कह रहे हैं मध्ययुग की सूरत में मुसलमानों का एक समाज अभी भी है अभी भी और उनका नेता अभी भी चिट्ठी लिख देता है उनके देश भगवान के नाम और वो चिट्ठी रख देते हैं कब्र में वो चिट्ठी दिखा देना मैंने कहा एक आध कब्र को तो उखाड़ कर देखो पागलो चिट्ठी वही मिलेगी ये सब क्या हो रहा है ये सब क्या है ये कैसा है हमारा समाज ये कैसा है देश ये कैसी है संस्कृति कैसा है चित्त नहीं हम असल में तथ्य को जो मौजूद है उसको जो आ रहा है तथ्य उसको देखने से बचने के लिए कल्पनाओं स्वरों और मोक्षों की भरते हैं ये बचने की तरकीब है ये एस्केप है जिंदगी सामने खड़ी उससे बचने के लिए स्वर्ग और मोक्ष में चले जा रहे ताकि उस उनकी बातों में उलझ जाए और ये जिंदगी को फेस न करना पड़े जिंदगी का मुकाबला न करना पड़े हिंदुस्तान हजारों साल से जिंदगी का मुकाबला नहीं कर रहा है ऐसी तो क्रांति होगी क्रांति होती है एनकाउंटर से क्रांति होती है जिंदगी का मुकाबला करने से जिंदगी सवाल लाती जिंदगी बड़े कठिन सवाल लाती जिंदगी ऐसे सवाल लाती है कि जिनका कोई उत्तर शास्त्रों में नहीं उस जिंदगी से मुकाबला करना जरूरी लेकिन तो कौन करेगा मुकाबला पीछे देखने वाले लोग कौन करेगा मुकाबला वे लोग जिनको ये ख्याल है कि सर्वज्ञ है सब ज्ञान उनको मिल चुका है कौन करेगा मुकाबला अहंकार से भरे हुए पोछ नपुंसक लोग जिनके पास सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं और अहंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है वो बिल्कुल पोछ उसके भीतर कुछ भी नहीं खाली खोल कौन करेगा जिंदगी का मुकाबला इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं जाने दे अहंकार को छोड़ दें वो खूटी झूठी जिससे हम बंधे उखाड़े उसको उखाड़नी पड़ेगी क्योंकि उसको गाड़ी वो खुद के साथ ही नहीं हुआ हमारे साथ भी वही हुआ है नहीं खूटी लेकिन चूंकि गाड़ी है ऋषि मुनि उन्होंने बहुत दूर से उसे उखाड़ना पड़ेगा उस खूटी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा लेकिन वो ऋषि मुनि बड़ी कोशिश करेंगे कि खूटी में उखाड़ी जा सके आज ही किसी सज्जन ने किसी स्वामी ने चुनौती दी है कि मुझे जवाब देंगे वो मुझे जवाब देने की जरूरत महत्वपूर्ण नहीं है मैं कहता नहीं कि मेरी बातें मान लो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो मैं कहता हूं अगर उससे आपका चिंतन भी शुरू हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा मानने का सवाल ही नहीं इसलिए जवाब का कोई सवाल नहीं है मैं किसी को मनाने के लिए नहीं घूम रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारे माने हुए सत्य संदिग्ध है उन पर फिर तो सोच लो एक बार अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना मान के मत बैठ जाओ उनको फिर से सोच लो इसलिए जवाब का सवाल नहीं है चुनौती का सवाल नहीं है ये चुनौती किसी स्वामी किसी सन्यासी को किसी मठाधीश के लिए नहीं दी जा रही है ये चुनौती इस मुल्क के आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मुर्दों के लिए चुनौती देने की जरूरत उनसे क्या प्रयोजन है बैठो अपने मंदिरों में राम राम जपो तुम्हें जो करना है करो तुमसे हम कोई बात नहीं कर रहे हम इस योग नहीं मानते कि उधर कोई बात करने का फायदा है कोई अर्थ है जिंदा आदमी चाहिए जिससे कुछ बात हो सके तुम्हारे पास बंधे हुए उत्तर है तुम उन्हीं को दोहराए चले जाओ अभी वहां जो बैठक हुई छोटी मोटी एक मित्र ने मुझे खबर दी है उस बैठक में उन्होंने कहा क्योंकि मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आदमी यज्ञ में एक करोड़ रुपए जलवाता है वो आदमी क्रिमिनल है वो आदमी अपराधी है वो आदमी देश का दुश्मन है देश गरीब भूखा मर रहा है उसका एक करोड़ रुपए तुम आग में जलाओगे और साधारण आदमी अगर कोई आदमी एक करोड़ रुपए में आग लगा दे तो वो साधारण जुर्मी है लेकिन जो आदमी धार्मिक क्रियाकांड के नाम पर आग लगाता है वो ज्यादा खतरनाक है वो पायस कन्नल है वो धार्मिक अपराधी इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसका अपराध उसको लगता है कि धार्मिक कार्य कर रहा है और जब अपराध धार्मिक मालूम पड़े तो बहुत खतरा है क्योंकि फिर अपराध से बचने का उपाय नहीं रह जाता तो मैंने ये कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमारे यज्ञ के द्वारा वियतनाम में शांति हो जाएगी फला जगह ये हो जाएगा पानी गिर जाएगा गरीबी मिट जाएगी वो पहले से तय करके यज्ञ करे कि इस यज्ञ का ये परिणाम होगा और अगर वो परिणाम हो जाए तो हम मानेंगे कि बात ठीक है लेकिन यज्ञ तुम कर लेते हो दुनिया में बहुत परिणाम रोज हो रहे हैं तुम कह रहे हमारे यज्ञ से ये परिणाम हो रहे हैं फलाने घर में बच्चा पैदा हुआ हमारे यज्ञ से हो रहा <laughs> और फला आदमी की हजरी बड़ी होगी वो हमारे यज्ञ से हो रही कोई दुनिया में विज्ञान का भी अर्थ है तर्क का भी कोई अर्थ है कि नहीं उन्होंने वहां जवाब दिया है मुझे कि जो घी हम जलाते हैं वो बेकार नहीं जाता वो घी से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती पागलों घी जला के वर्षा करनी पड़ेगी घी से वर्षा कर रहे हैं जला के वो कितनी वर्षा करिएगा कितना घी जला के एकाध प्रयोगशाला में थोड़ा बहुत पानी बरसा के घी से दिखला दो ये बातचीत करने से नहीं चलेगा अब ये मुल्क तैयार हो रहा है इसके जवान तैयार हो रहे हैं गर्दन पकड़ लेंगे इस तरह की झूठी बातें की तो प्रयोगशालाएं हैं हमारे पास अब ये मुल्क कोई 2000 साल पहले का नहीं है हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं कि पानी कैसे बनता है हम जानते हैं पानी कैसे निर्मित होता है यह हम जानते हैं भाप कैसे बनती है यह हमें पता है अब ये मंत्र पढ़ के और घी जला के तुम हमको धोखा नहीं दे सकते हो जवाब मुझे नहीं देना पड़ेगा जवाब तुम्हें देना पड़ेगा कल पूरे मुल्क के सामने ये पूरे मुल्क की अदालत में एक एक जुर्मे की तरह खड़े किए जाओ इसके पहले कि खड़े किए जाओ जवाब समाज देना छोड़ो समझने की कोशिश करो ये चुनौती में ये चुनौती पूरे मुल्क की चेतना के लिए है ये पूरा मुल्क कैसा सोया हुआ है एक आदमी इकट्ठा कर लेगा करोड़ रुपए और कर लेगा इसमें कोई शक नहीं है अभी शायद छत्तीस लाख जला दिए छत्तीस लाख जल सकते हैं तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई जब एक करोड़ जलवा सकते हैं और छत्तीस लाख जलाने से उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई न मालूम कितने नासमझ पैर छूने लगे होंगे न मालूम कितने नासमझ महात्मा कहने लगे होंगे अपराधियों को महात्मा कब तक कहोगे ये कब तक चलेगा ये ये दुख ये पीड़ा और दुर्भाग्य कब तक खींचना है ये जवाब तो पूरे मुल्क को दो ये जवाब मुझे देने का सवाल नहीं है और ये सोचना पड़ेगा लेकिन और मेरा कहना ये नहीं है मैं ये कहता हूं कि जो लोग यज्ञ करते हैं वो प्रयोगशाला में प्रमाणित कर दें कि हमारे यज्ञ से ये ये फायदा होता है और अगर फायदा सिद्ध हो जाएगा तो हमें क्यों सारी दुनिया यज्ञ करेगी फिर हम यज्ञ करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे जब उसी सब कुछ होगा तो हम सारी दुनिया को मैं अपनी तरफ से दुनिया को समझाने निकलूंगा कि यज्ञ करो लेकिन यज्ञ तुम्हारी बातों से थोड़ी सिद्ध होगा हम इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं हजारों साल से हम सिर्फ शब्दों पर जीते हैं सिर्फ शब्दों पर जीते हैं किताब में लिखा है बस काफी है किताब में लिखे होने से कोई चीज सच हो जाती छपा हुआ अक्षर सच हो जाता छप गया और कुछ हो गया किसने लिख दिया है उस आदमी का कितना बल है कितनी प्रमाणिकता है क्या ऑथेंटिसिटी है उस आदमी का कितना विज्ञान है साइकिल का पंचर जोड़ना नहीं बना सकते जो वो यज्ञ करके दुनिया में शांति करवा देंगे कुछ कुछ भी साइंटिफिक होने का तमीज कोई वैज्ञानिक बुद्धि का थोड़ा बहुत सबूत दो ये उत्तर सवाल जवाब देने का नहीं है कोई मैं वेद के मंत्रों का निर्णय नहीं ले रहा हूं कि इसका क्या अर्थ है इधर जिंदगी के असली सवाल है उधर वेद वेद के मंत्रों पर विष्णु राय के भगवान चलती उसके करने परंपरा यहां जिंदगी के मामले में नहीं चलेगा ये यहां जिंदगी भूत मानती है सत्य मानती है सत्य मानती है मैं आपसे कहूंगा कि जिस समाज में जिस गांव में जिस राज्य में जिस देश में इस तरह की नासमझी चलती है अगर आप खड़े होकर देखते हो तो आप भी जुम्मेदार हो आप भी उस अपराध के भागीदार हो क्योंकि खड़े होकर देखना भी जुर्म है उसके लिए जिस आदमी में थोड़ी बुद्धि है उसे निश्चित कुछ किया जाना चाहिए इस देश में एक यज्ञ न हो इसकी फिक्र की जानी चाहिए और अगर उनको बहुत उत्सुकता है तो एक करोड़ रुपए इकट्ठा करें एक रिसर्च फेलोशिप तय करें कुछ वैज्ञानिक मिलकर प्रयोग करके देखे उस तो एक करोड़ रूपये से कि यज्ञ से क्या हो सकता है तो समझ में आने वाली बात होगी उससे निर्णय होगा मेरे विवाद से और मुझे जवाब देने से कहीं मंडली में बैठ के कुछ होने वाला नहीं वो पुराने समाज वो पुराने लोग झूठी खीली को ठोकने की कोशिश करेंगे वो हर तरफ से कोशिश करेंगे और अगर उन्हें ऐसा लगा कि मेरी बातों का वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो वो पीछे से छुरी भोंकने की कोशिश करेंगे वो कहेंगे एक आदमी का चरित्र बर्बाद है ये आदमी एक स्त्री के साथ बात करता देखा गया वो फिर ये करेंगे ये कमजोरी की आखिरी सीमा जब कोई जवाब देने को नहीं बचता तो कमजोर आदमी आखिर में ये करते हैं कि फिर पीछे से कुछ उल्टी सीधी बातें शुरू करो कौन है वो स्त्री आज एक अखबार में किसी ने एक वक्तव्य दिया और वो सज्जन ने कहा कि वो मेरे एक्स डिसाइपल मैं हैरान हो गया मेरा कोई डिसाइकिल ही नहीं तो एक्स डिसाइकिल कैसे हो सकता है मैंने एक शिष्य नहीं बनाया मैं किसी आदमी को इतना मूर्ख नहीं समझता कि उसको शिष्य बनाऊं हर आदमी की अपनी प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए मेरा कोई शिष्य नहीं तो भूतपूर्व शिष्य कैसे हो सकता है उन्होंने वक्तव्य दिया है कि कोई दो लड़कियों को उन्होंने भीतर जाते देखा और जब वो बाहर निकली तो वो बहुत घबराई हुई थी अभी वक्तव्य दे दिया वो कौन दो लड़की है वो क्यों घबराई हुई थी वो लड़कियां भी भाग्य से आ गई और उन्होंने मुझसे आज आके कहा कि हम हैरान एक लड़की उनमें से मेरे पास आके रो के गई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ थी कोई पीड़ा थी वो आके रोने लगी उसके आंसू गए उसका मन हल्का हो गया वो रो के बाहर निकली थी वो लड़की भी यहां मौजूद थी वो रो के बाहर निकली थी तो उन सज्जन ने वक्तव्य दे दिया कि वो घबरा के गई वो घबरा के उनको दिखाई पड़ी होगी वो रो के गई थी लेकिन इससे क्या सिद्ध हो जाता है इससे वो सिद्ध कर रहे हैं कि मेरे चरित्र में कोई खामी है इसलिए वो लड़की दौड़ा के होती हुई बाहर निकली इसकी फिक्र छोड़ दो मेरे चरित्र की क्योंकि न मुझे गुरु बनना है न मुझे कोई महामंडलेश्वर बनना है न कोई जगत गुरु बनना है मेरे चरित्र की फिक्र ही मत करो मुझे किसी से चरित्र के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे किसी तरह के आदर की सम्मान की श्रद्धा की कोई भूत नहीं मैं जो कहता हूं उसका उत्तर दो ये भी समझ लो कि चरित्रहीन आदमी कह रहा तो भी मेरी बात इसलिए गलत नहीं हो जाएगी कि मैं चरित्रहीन हूं ये भी समझ लो कि चरित्रहीन आदमी है क्योंकि इससे कोई अर्थ ही नहीं है चरित्र का विचार सिवाय चरित्रहीनों के और कोई भी नहीं करता है बीमार आदमी होता है तो 24 घंटे स्वास्थ्य का विचार करता है स्वस्थ आदमी कभी स्वास्थ्य का विचार नहीं करता है चरित्र जिसके पास है वो चरित्र मरीज की बातों में नहीं पड़ता है जिनके पास चरित्र नहीं होता वो यही तुच्छी बातों में जीवन खराब करते हैं पर इसकी फिक्र छोड़ दो ये भी मान लो एक आदमी चरित्रहीन है अब मैं चरित्रहीन हूँ और मैं कहता हूं कि यज्ञ में घी जलाना पागलपन है तो क्या मेरी ये बात इतनी गलत हो जाएगी कि चरित्र जी ने कहा कि उससे एक औरत मिलने जा रही थी वो रोटी भी बाहर निकली इतनी गलत हो जाएगी ये बात तब तो फिर बड़े अद्भुत लोग हो तब फिर उस इंस्पेक्टर से तुम्हें मिलना चाहिए और सबकी अपनी अपनी उम्र चवालीस साल देखभाल लेने का सर्टिफिकेट लेना चाहिए लेकिन जब जिंदगी सवाल उठा देती और जवाब नहीं पूछ सूझते तो मां कमजोर को कमजोरों को इसी तरह की बातें सूझती इन बातों के पीछे भी हाथ है जिन लोगों के आलोचना में मैं कुछ कह रहा हूं गांधीवादियों की एक जमात है वो एक नया मठ है महामंडलेश्वर होगा वो नया मठ खड़ा हो रहा पुराने मठों से छुटकारा नहीं हो रहा और नए मठ खड़े होते जा रहे पुराने सन्यासियों से हम मरे जा रहे हैं और नए सन्यासी खड़े हुए चले जा रहे हैं उनका धंधा पुराने सन्यासियों का धंधा भजन कीमतन था इन नए सन्यासियों का धंधा सेवा इत्यादि और वो सेवा ही उनका धंधा है वही आजीविका वही उनका काम है अब उनको उनको तकलीफ होती है जब आपने मेरी बातों का चाहे पुराने मठ के लोग हो चाहे नए मठ के लोग मैं जवाब चाहता हूं मेरी बात फिक्र छोड़ दे और ये मैं कह देना चाहता हूं इस तरह की झूठी बातें करने से लोगों को धोखे में नहीं डाला जा सकता और डर मुझे सदा ये लगता है कि कहीं लोग क्रोधित न हो जाए इस तरह की झूठी बातों से नमाज में लोगों ने मुझे कहा कि इस आदमी को हम जाकर अभी देखते मैंने कहा उस बेचारे को छोड़ो गरीब आदमी है कहीं नौकरी खोज रहा होगा किसी विद्यापीठ में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा मेरे खिलाफ लिखता उसको कुछ फायदा हो रहा होगा भगवान उसके बाल बच्चों को बढ़ा रहे उसकी नौकरी में तरक्की मिलता रहना चाहिए उनको परेशान मत करना उनको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी खोज रहा है लेकिन ये सारे के सारे मिलके कोशिश करेंगे कि वो पुरानी खूटी गड़ी रहे मजबूती से अब वो देख है कि मुल्क में प्रबुद्ध लोग हैं या नहीं अगर लोग मुल्क में प्रबुद्ध हुए तो हम झूठी खूटी को हाथ फेंक देंगे और एक वक्त आ गया है मुल्क की चेतना में कि क्रांति हो एक वक्त आ गया है कि आमूल क्रांति हो जीवन के सारे तन बदले जाएं, जिंदगी पर सारी पुरानी राख झाड़ी जाए जिंदगी पर सारी जंग झाड़ी जाए जिंदगी को नई चमक नई रौनक नए प्राण दिए जाएं, जिंदगी में नए बीज बोए जाएं, नए फूल खिले और आखिरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ अगर भारत ये हिम्मत जुटा ले नए होने की तो दुनिया में कोई देश इस देश का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि इस देश का मानव 2000 साल से अनकल्टिवेटेड बंजर पड़ा हुआ एक खेत अगर 2000 साल तक पड़ा रहे जिसमें बुआई न हो बीज न डाले